कृतार्थदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुभो सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् कृतार्थदैववन्दनं दिनेशवंशनन्दनम् नमा नमामि राममीश्वरं शिला शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्वेदारकं नमामि राममीश्वरम् स्वताथ वाक्यकारणं तपोवने विहारिणं करेषु चापधारिणं नमामि राममीश्वरम् कुरङ्गमुक्तसायकं जटायुमोक्षदायकम् प्रवेदकेशनायकं नमामि राममीश्वरं प्रवल्गसङ्गसम्मति निबद्धने मृगापतिं दशास्य वंशसङ्क्षतिं नमामि राममीश्वरं विदेन देवहर्षणम् कपेप्सितार्थवर्षणं स्वबन्धुशोककर्षणं नमामि राममीश्वरं गतारिराज्यरक्षणं प्रजाजनार्तिभक्षणं कृतासमोहलक्षणं नमामि राममीश्वरम् हृताखिलाचलाभरं स्वधामं नीतनागरं जगत्तमोदिवाकरं नमामि राममीश्वरम् इदं समाहितात्मनां नरो रघुत्तमाष्टकम् पठन् निरन्तरं भयम् भवोद्भव न विंदते पठन्ति निरंतर भय भवोद्भव न विंदते पुकारा जिसने सुनी उसकी ही बजरंग बली पुकारा जिसने सुनी उसकी हे बजरंग बली हो अपनी बात के ऐसे धनी बजरंग बली पुकारा जिसने सुनी उसकी हे बजरंग बली हो अपनी बात के ऐसे धनी बजरंग बली कपी सकीस सबो ने यह कई बार कहा तुम्ही न दी है हमें जिंदगी बजरंग बली पुकारा जिसने सुनी उसकी ही बजरंग बली हो अपनी बात के ऐसे धनी बजरंग बली पड़े थे प्राण लखन लाल के जब संकट में तुम्हें तो लाए थे संजीवनी बजरंग बली पुकारा जिसने सुने उसके ही बजरंग बली तो अपनी बात के ऐसे धनी बजरंग बली पुकारा जिसने सुने उसकी ही बजरंग बली सिया को और भरत को तुम्ही ने रखा था जब उनके प्राण पे आके पड़ी बजरंग बली पुकारा जिसने सुनी उसकी बजरंग बली पुकारा जिसने सुनी उसकी बजरंग बली कहा था एक समय जान के जीवन ने भी तुम्हारे आज से हम हैरणी बजरंग बली तुम्हारे आसरे निर्भय तुम्हारा बजरंग बली तुम्हारे हाथ में जय है जय बजरंग बली तुम्हारे हाथ में जय है जय बजरंग बली पुकारा जिसने सुनी उसकी बजरंग बली हो अपनी बात के ऐसे धनी बजरंग बली पुकारा जिसने सुनी उसकी ही बजरंग बली अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल लाचार हो गया रघुवंशी रघुकुल का गौरव रखना है मदमत्त हुआ है लंका पति इसका फल उसको चखना है पड़ती है चोट मनुजता पर शोणित के नदियाँ बहने से पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को छत्रे के भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार हटाने को धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है तब शांत दृष्टि रज कर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है परिवर्तनशील जगत है जब तो संघर्ष होना ही है परिवर्तनशील जगत है जब तो संघर्ष होना ही है राघव अब रोक नहीं सकता लंका में रण हो नाही है राघव अब रोक नहीं सकता लंका में रण हो नाही है इस आर्य भूमि की सीता हर पति चैन न पाएगा किस किंदा का यह कपिदल ही सोने की लंक ढहाएगा इसलिए न्याय के नाते से इस आर्य देश के नाते से अपने कर्तव्य के नाते से सीता संदेश के नाते से कह कह कर हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरो शंका को हटा बजा डंका लंका पर चढ़ जाओ वीरो शंका को हटा बजा डंका लंका पर चढ़ जाओ वीरो जो कर्मशील है जिसका स्वच्छ हृदय है कहते हैं वेद और शास्त्र उसकी जय है उसकी जय है उसने स्वधर्म पर अपने रण ठाना है जिसने स्वजाति का भूल तत्व जाना है जिसने स्वदेश का गौरव पहचाना है जो स्वाभिमान के कारण दीवाना है जो बना न्याय दीपक का परवाना है जो सत पर मरे मिटने को मरदाना है रणवीर वही है कहीं न उसको भय कहते हैं वेद और शास्त्र उसी की जय है जो कर्मशील है जिसका स्वच्छ हृदय है कहते हैं वेद और शास्त्र उसी की जय है उसी की उसी की जय है आज्ञा सुन कपिराज रे यो थपलिए पुकार चार विभागों में किया बानर कटक तैयार धाये लंका की तरफ कपे सब कह जय राम चारों द्वार पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमंत भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत अब तो निश्चय सैन्य भी धाये कपिदल की ओर वर्षा में जैसे गिरे उमड़ उमर घन घोर बिजले के नाये बढ़े बानर भी तत्काल एक एक से भिड़ गए कर किलकार कराल